व्यक्ति है उनको रोग नहीं लगेंगे तो उसी प्रकार से बने रहेंगे स्वस्थ बने रहेंगे ऐसे ही <clears throat> ये जो काम क्रोध आदि विकार हैं ये सब रोग हैं ये किन लोगों को लगते हैं जो कमजोर हैं भीतर उन्हीं को ये लगते हैं और व्यक्ति भले ही समझे कि मैं क्रोधियों को बड़ा शक्तिशाली हूँ फिर उसकी नासमझी है मूर्खताई है कोई व्यक्ति जो वो है कटवचन बोलो क्रोध करो ईर्षा पेश करो झगड़ा प्रसाद करो चालाकी करो धोखा दे तो समझे कि देखो मैं कितना होशियार आदमी हूँ तो ये उसकी होशियारी नहीं है ये उसकी दुर्बलता के लक्षण पर है <clears throat> ये इसको जगह जगह ये बात हर जगह आती रहती है और उसी बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है एक बार नहीं दोबारा कहो फिर कहो फिर कहो फिर कहो लेकिन बुद्धि में टिकती नहीं क्योंकि संस्कार उल्टे पड़ चुके हैं अनेक जन्मों से विपरीत संस्कार इतने भरे हुए हैं इसलिए वही उल्टी बात ही बुद्धि में आती है जब किसी व्यक्ति को ये बातें तो समझ में भी आ जाती हैं तो क्या होता है कि पहले तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है अपने संस्कार के कारण और बाद में पछताता है कि देखो हमको भी क्रोध आ गया उसके माने हमारी कमजोरी भी छोटी नहीं इतना कम से कम याद आ जाता है पश्चाताप कर लेता और दूसरे व्यक्ति जैसे जानते भी नहीं वे लोग तो इतना भी नहीं समझते कि मैं क्रोध जो है हमारे कमजोरी का लक्षण है काम क्रोध लोग मोर कमजोरी के लक्षण है ये नहीं समझ सकता वो समझता है तो शक्ति के लक्षण है <clears throat> हाँ। तो ये कहते जैसे कि ये बार बार फूट भेज रहे हैं ये तो उनकी दुर्बलता का सूचक है ऐसे समझता है राम रिपोषण प्रीत करते तो नहीं लाजा कहते सत्र से प्रीत दिखाते हैं प्रीत तो बड़े लज्जा की बात है लज्जा की बात है बड़े कमजोर है जो कमजोर व्यक्ति है वही अपने सत्र से प्रीत दिखा देगा हाथ जोड़ेगा जल जड़ाएगा कमजोरी के कारण अपना ऐसा कर रहा है रावण अपनी शक्ति को बताता है कि हरि गुरु मथन मेरे तुम्बम बाहू कहता है मेरे भुजाओं को देखो हरि गुरु मथन मन शंकर जी का पर्वत कैलाश पर्वत है उसका भी मंथन कर देने वाला मैंने उसको उठा लिया घुमा लिया उसको मैंने उस पर्वत की हमारी मेरे सामने भुजाओं के सामने कुछ नहीं बोले कटे कभी नहीं जब प्रबंध कराहू और पहले मेरे भुजाओं के बल के देखो तब तुम अपने समझना कि तुम्हारे स्वामी में कितनी शक्ति है तब तुम उसकी सराहना करना तुम मेरे बल को जानते नहीं इसलिए तुम अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहे हो कि मेरा स्वामी बड़ा शक्तिशाली है बड़ा शक्तिशाली है अरे मेरी शक्ति को समझो जो करे ये राम ने कहा सूर्य का मन रावण सरस रावण कहता है रावण के समान अपने नाम लेकर कहता है रावण के समान शक्तिशाली और वीर कौन है तथा पकड़ काट के शीश जो अपने हाथ से जिसने अपने सिर काट करके उन्हें उन्हें हनल अति हरकत होते मन जिनकी आहुति दी थी अग्नि में डाल दी ऐसे सर्व भरा दुनिया में कोई आज तक सुना दूंगे जो अपना सिर काट करके आग में डाल दी सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं अपना सिर काट करके दूसरा कोई सिर काट करके जो भले आग में डाल दे लेकिन अपना सिर काट करके कोई अपने हाथ से आग में नहीं डाल सकता लेकिन मैंने इसी प्रकार को ये कार्य किया ये देखो मेरी दीक्षा हुई तो कुटे अनल अति हरक बहु बार काफी गौरी जैसे इसमें जो है गौरी बने गौरी पर भगवान शंकर जी जो वो इस बात में साथी है मैंने वो जानते हैं शंकर जी से पूछ लो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ किस प्रकार से मैंने अपने सरकार कर सीखे अब जो है आहुति की <clears throat> देखो एक रावण अपनी मूर्खता का वर्णन करता है ये जो है आगे जो वो क्या कहता है कि जरत बिलो क्यों जब ही कपाला के लिखे निज भाला नर के करे आप अनपद पाची हसे जान विधि गिराय पाची सो मन समुझ प्रास नहीं मोरे लिखा विरंग जटमति भोरे आन वीर बल सतम में आते पुन पुन कहा लाज पति त्यागी कहे अंदर सलज जगमाही रावण को समान को नाही लाजवंत तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कहा से न काऊ श्रीयर तैल कथा चुत रही बार बीस तय कही सो भुज बलरा गाली देव सास बाहु बलशाली सुनमति मंद दे अब पूरा काटे शीश की हो ये सूरा इंद्रजाल तुम कही न पीरा काटई निज कर सकल शरीरा जरे पतंग मोबस भार कर ब्रह्म दे नहीं सूर का वही समुझ देख मति मंद सियावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोलो वही सत्संग की कहता है कि तो इस प्रकार से मैंने अपने हाथों से काट काट करके अपने सिरों को अग्नि में डाल दिया तो जर्क विदो क्यों जब का पाला जब हमने अपने सिर को अग्नि में जलते हुए देखा और जब सिर काट के डाल दिया तो देखा कैसे हाँ? मैंने अनेक सिर थे तो एक सिर काट के डाल दिया दूसरा सिर निकल आया और उस सिर से उसने देखा कि मेरे ही सिर में क्या लिखा हुआ है कपाल में बिजते बिखे अंग ने जुभाला मैंने अपने हाल में हमने दिव्य के लिखे हुए मैंने विधाता प्रारंभ लिख देता है तो प्रारंभ मानो उसमें मैंने पढ़ा देखा कि मेरा प्रारंभ क्या है तो कहते नर के कर आपन पद बाकी तो हमने वहाँ पर देखा व्याकरण पढ़ा उसमें पढ़ा लिखा हुआ था मैंने पढ़ के देखा तो क्या मिला कि नर के कर पद कि रावण का पद मनुष्य के हाथ से होगा तो हसे जानत गिरा असाथी तो मैंने देखा कि ब्रह्मा जी ने गलती से लिख दिया ब्रह्मा जी की ये बात गिरा असाथी मन साथी नहीं झूठ बात और सौ सौ मन समुझ प्राप्त नहीं मोरे और ब्रह्मा जी ने जो गलत में लिख दिया तो उससे मुझे देख करके डर नहीं लगता है मैं क्यों नहीं डरता हूँ इस बात से मुझे डर होना चाहिए कि मन मुझे मार देगा दादा ने ऐसा लिखा है कहते तो ब्रह्मा जी से गलती से लिख गया है लिखा ग्रंथ जरथ मत भोरे ब्रह्मा जी हो गए बुद्धे अब उनकी बुद्धि जाके सच्चा गई बुद्धि उनका बहुत कुछ कहीं कुछ का कुछ बोल जाते हैं कुछ का कुछ काम गलत गलत काम कर जाते हैं इसलिए गलती से वो लिख गए कि मनुष्य के हाथ से मेरा मरण होगा अब देखो इसमें जो ये है एक तो रावण की बात हुई तो रावण ब्रह्मा जी से ही उसने वरदान मांगा कि मैं किसी के मारे न मरू और ब्रह्मा जी ने अगर लिख दिया उसके भाल में कि तुम मनुष्य के हाथ से मरोगे तब एक बात तो रावण मानता है कि ब्रह्मा शक्तिशाली है वो अगर वरदान दे दें कि मैं किसी के मारे नहीं मरूंगा तो इसके माने कि मैं बातों में नहीं मरूंगा ब्रह्मा जी की तपस्या करता है वरदान मानता है उनसे और दूसरी तरफ अगर ब्रह्मा जी वरदान देने के बाद में भी मनुष्य के हाथ से रावण का मरना लिख देते हैं तो फिर वो बात नहीं मानते करेगा ये बात ब्रह्मा जी की ठीक नहीं बाकी ब्रह्मा जी वरदान दे सकते हैं वैसे हमको अमर अजर अमर बना सकते हैं ये बात मैं मानता हूँ लेकिन अगर वो चाहेंगे मनुष्य के हाथ मरो ये बात नहीं मानता ये कौन सी बात है अब इस बात में वो ब्रह्मा जी से भी अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा और ब्रह्मा जी को मूर्ख समझने लगा जब वो बढ़ा गए तब ऐसे बोलता है दिखा दे रहे हैं कि चरित मैंने जट मन बंद गरट मत भोरे प्रतावस्था में मत भोरी हो गई है इसलिए जो इस प्रकार से दिखा है ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानता लेकिन ब्रह्मा जी ने ठीक दिखा ठीक ये दिखा आगे आप करके देखेंगे कि भगवान राम जो है वो मानवीय शरीर के लिए उन्होंने धारण किया और अपनी ईश्वरता की छिपाई भी रहे कि मनुष्य के द्वारा ही उसका बथोरा मन का भगवान राम ने रावण को मारा भी रावण जी के मारने से मरा भी दूसरे अध्यात्म विद्या की दृष्टि देखो तो ये मोह जो है वो वो केवल मनुष्य ही मार सकता है सारी सृष्टि में अगर कोई मोह का विनाश करने वाला है तो मनुष्य ही लेकिन मनुष्य भी सब मनुष्य नहीं मार सकते सारी सृष्टि में जितने मनुष्य हैं वो तो मनुष्य भी सभी मोह होता है मोह के ऊपर शासन मोह का शासन सारे मनुष्यों के ऊपर भी है तीनों लोगों में देवताओं पर भी है पाचान लोक में भी है मनुष्यों के ऊपर भी है शासन उसका मनुष्यों के ऊपर भी है लेकिन इतने सारे तीनों लोगों में जितने भी प्राणी है उनमें से अगर कोई मोह से विजय प्राप्त कर सकता है तो मनुष्य ही कर सकता है लेकिन कौन मनुष्य कर सकता है जो मनुष्य परमात्मा का सहारा ले ये जिसमें की परमात्मा प्रकट हो वही मोह से छुटकारा पा सकता है और कोई उपाय नहीं इसलिए स्वर्ग और सर्वतांत तो दुखदायी नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधारते सकृत लेही ताई कबों भल कहाई न कोई गुंजा कराई परस मन कोई आकर चार लाख चौरासी जोन भ्रमती हुए अविनाशी कबहू तो कर करुणा नर देवी वेद ईस दिन हेत समेही नरतन भव बारित कहूँ सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्ण धार सदगुरु कर्ण नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा और जो न करे भवसागर नर समाज अस पाए मनुष्य शरीर प्राप्त हो गुरु प्राप्त हो शास्त्र प्राप्त हो सदबुद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो और फिर भी वह लोग के प्राप्त करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर देता है तो ये दुर्भाग्य की बात है मनुष्य <coughs> इसलिए रामा जब जी कहता है कि हमारे प्रारंभ में यही दिखा है कि मनुष्य ही मुझे मार सकता है तो सबसे बात ब्रह्मा जी ने जरक होकर के घोड़े में नहीं जीती लेकिन दोनों बातें मनुष्य यदि पशु के समान जीवन जीता है तो मोह से जीत नहीं सकता मनुष्य जब परमार्थ के परमात्मा के क्षण जाए और परमार्थ में जीवन आध्यात्मिक जीवन जिए तो ही धीरे धीरे शक्तिशाली होकर के मोह से छुटकारा पा सकता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है बस और मनुष्य के अतिरिक्त और कहीं कोई प्रकार का नहीं है सारी सृष्टि में जिस भोग से मुक्त हो सके रावण के वचन में कितनी सभ्यता है वो भी वो क्या कहना चाहता है और क्या उसका तात्पर्य है तो आन वीर बल कथम ही आगे अब रावण कहता है कि दूसरे को मेरे सामने दूसरे को तुम शक्तिशाली बताओ और बड़ा वीर बताओ तुम्हें वो कहाँ झूठी बात है सर चलो मुझे कहा कि लाज पति के आगे तुम अपने अपनी लज्जा को छोड़ करके और अपनी पति के मने अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ करके जो व्यक्ति झूठ मूठ बातें वही बोलेगा जो लज्जा ने जिसको भी नहीं आती है जिससे प्रतिष्ठा का डर नहीं वही व्यक्ति झूठ मूठ बातें बोलेगा तुम झूठ में दर्द में तो अपने स्वामी की महिमा हाथ गा रहे हो उसमें क्या सत्य हो सकता है अब ये रावण को भगवान राम को परमात्मा नहीं मानता यही मानता है एक मनुष्य है एक राजकुमार है एक तपस्वी है एक वनवासी है बस इतने करके मानता उसे और ये जानता है कि मनुष्य क्या होता है मनुष्य तो सब ऐसी जैसे कि संसार में जैसे पशु जिसे भोगों में लिप्त रहते हैं जैसे मनुष्य भी रहता है ये भला धीरा सा सकता है मुझसे क्या युद्ध करेगा अगर बड़ा शक्तिशाली होता तो फिर मुझसे इस प्रकार से थोड़े करता कि मेरे पास जो दूध भेजता संध करने का प्रस्ताव रखता तो कहे अंजन सलग भी जब मांगी जब रावण ने ये कह दिया कि तुम निर्लज जो अंगद को कह दिया और तुम्हें कोई प्रतिष्ठा का ख्याल भी नहीं है तब अंगद कहता कहे अंगद अंगद बोले कि सलग जग मांगी अगर संसार में कोई सलग है मान यदि किसी को लज्जा है किसी को शर्म अगर दुनिया में है तो एक तुम तुम्हारे सामने तो और कोई लज्जावान है रामा के समान कोई ना है हे रामा तुम्हारे समान लज्जावान दुनिया में कोई नहीं क्या लज्जावान रावण की बात को कहते हैं अब देखो अंदर जो वो अब यहाँ पर की है अब रावण लज्जावान नहीं है निर्लज है तो लेकिन अंदर उसको कहते हैं कि तुम ही एक बहुत बड़े लज्जावान तो कहते हैं <clears throat> लाजवंत तब सहज स्वभाव तुम लाजवंत हो ये तुम्हारा सहज स्वभाव है हाँ? लज्जा तुमको रहती है शर्म रहती है तुमको ये तुम्हारा सहज स्वभाव माने ये तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं कि तुमको लज्जा हो तुम तो बिल्कुल निर्लज हो अर्थ उसका एक हो होगा क्यों कि निज मुखनी से गुण कहा कि न कहा दुनिया में कोई अपने मुंह से अपनी पढ़ाई थोड़ी करता है जो निर्लज होते हैं वही अपने मुख से अपनी पढ़ाई करते हैं ये भी जो है ये अपनी भारतीय संस्कृति का एक तत्व है मूल महत्वपूर्ण बहुत लोग बार बार अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं मैंने ये किया मैंने वो किया था मैंने ऐसा किया फिर मैंने वैसा किया मैंने इसे झगड़ा किया मैंने हरा दिया मैंने इनका ऐसा कर दिया ये सब मैं मैं की बात जो करते रहते हैं और अपनी बड़ाई बोलते रहते हैं उनके लिए देखो ये है कि लाजवंत तब जो सुखाऊ निजी मुख को न कहा न कहा अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं करने का पढ़ाई अगर होनी है व्यक्ति को तो दूसरे लोग करेंगे और पढ़ाई दूसरे व्यक्ति की भी पढ़ाई करनी हो तो उसके मुख पर नहीं करनी चाहिए अगर जिसकी की पढ़ाई को दूसरा व्यक्ति भी दूसरे की पढ़ाई करे तो उसके मुख पर करे तो भी झूठी पढ़ाई माने उसको प्रसन्न करने के लिए पढ़ाई कर रहा है वो भी कोई बढ़ाई बढ़ाई नहीं वास्तव में किसी व्यक्ति की बढ़ाई और महिमा तब है जब पीठ पीछे लोग दूसरे लोग करें न वो अपने मुख से करे न उसके सामने कोई करे बल्कि जब वो व्यक्ति न हो तब उसके अनुपस्थित में जब कोई किसी की प्रशंसा करे तब वो सच्ची प्रशंसा है बाकी सब झूठी प्रशंसा है राजवंत तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कहा से न और सिर और शैल कथा की तरह ही और तुम बार बार दूसरी बार देखो जब देखो तो दो बातें तुम्हें याद है बस एक सिर काट काट के होम दिए और दूसरा कैला पर्वत उठा लिया जब देखो तो कैलाश पर्वत उठा लिया जब देखो तो सिर काट के डाल दिए वही दो बात बातें लगी हुई है दुनिया में अगर जीवन भर में तुमने कोई प्रसाद किए तो दो ही प्रसाद तुमने किए सात बार बीस कही बस बीसों बार तुम जो वही बात रखते रहते हो यही बातों को बार बार कहते रहते हो लेकिन और भी तुम्हारी करनी और भी तो है वो कभी याद नहीं तो आती और सो भुज सो भुज बल रात के उड़ खाली बस तुम उसी को अपने बड़ा भुजाओं का बल मानते हो चित्र में वही धारण किए कि मैंने पर्वत उठा लिया लेकिन जीते साहस बाव बलि बाली लेकिन तुमने सासरा बाव को और बलि को और बाली को इनको भी तो जीत लिया था मैंने इनसे तुम हार गए इनके सामने तुम्हारा पथ नहीं चला ये बात कभी नहीं कहते कि काकरा बाब कैसे मुझे एक को समझ करके खा ले गया था बाली कैसे हमको बगल में डाल दिया था ये कभी इस प्रकार की ये बातें कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलती यही बताते रहते कि मैंने तुम्हारा पर्वत उठा दिया मैंने सरकार को डाल दिया बस ये जो बातें पकड़े हुए बार बार वही बोलते रहते सुन मतिमंद दे पूरा कहते मतिमंद देह पूरा अब जो हम तुमसे कह रहे हैं इसका उत्तर दो पूर्ति करो मैंने देखो एक प्रश्न होता है प्रश्न की पूर्ति तब होती है जब उसका सम्यक उत्तर मिले अंदर कहते हैं तो हमारी हर बात का तुम उत्तर देते हो अब हम जो प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहे हैं उसका उत्तर दो तुम बड़े लाजवंत हो बड़े सरज्जा करने अपने आप को समझते हो अपने मुख से अपने आप अपनी पढ़ाई करते हो और पढ़ाई केवल दो बातों की करते हो और न शास्त्राभाव को नाम दो न पलिका न बालिका अब बताओ इसका उत्तर तुम्हारे पास क्या है हम्म। तो काटे शीश की हुई हुई पूरा करे तुम्हारा सिर काटने से कोई पूरा नहीं पड़ेगा मैंने तुम अपने हाथ से सिर काट के डाल दिया तो कोई बड़ी भारी बात नहीं क्यों जैसे रावण ने पहले कहा कि जब समुद्र के ऊपर फुल बांध दिया तो उनकी चिड़िया भी उनके समुद्र के पास चली जाती है ये कोई बादली की बात नहीं है तो वैसे अंगद भी रावण से कहते हैं कि अगर अपना सिर काट करके कोई हाथ में डाल दे ये भी कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं क्यों अरे हमने देखा है जादूगरों को वो अपना सिर क्या पैरों के टुकड़े कर देंगे हाथों के टुकड़े कर देंगे पेट के टुकड़े कर देंगे अपने शरीर के गंदक टुकड़े कर देंगे और टुकड़े करके डाल देते हैं तो क्या उन जादूगरों को कोई बहादुर कहता है इंद्रजाल कहूँ कही नदीरा इंद्रजाल जादूगरों को कोई भीड़ नहीं कहता तो इंद्र पर सकल शरीर अपने हाथ से वो अपने सारे शरीर को काट काट डाल देता ये जादूगर इस प्रकार के होते रहे तो ये अपने साथ ग्रंथों में उनका प्रसंग आता रहता है तो कि जादूगर ऐसे होते रहे कि एक राजा को जादू ने जादूगर जादू दिखाया उसने एक रस्सी आकाश में फेंक दी तो सतर्क सफर करके आकाश में बिजली पत्थर अब उसने रस्सी को खींच के देखा तो रस्सी टाइट आकाश में लटक गई अब उस रस्सी के ऊपर चढ़ गया वो जादू और चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते इतनी दूर तक चढ़ गया रस्सी का दूसरा छोर भी नहीं दिखता था और वहीं जाकर के वो भी उस छोर में दिला गया दिखाई नहीं दिया फिर ऊपर चढ़ करके उसने जो है अपना सिर काट करके गिराया जो उनके धड़ाम से दूर गिरा उसने एक हाथ काट के डाला जो उनके धड़ाम से गिरा दूसरा हाथ काट कर कटारा वो भी आराम से जमीन फटाक से है कटा हुआ खून बह रहा है टांगे काट के डाल दिए उसका पेट काट के डाल दिया घायल डाल दिया सारा शरीर कट करके नीचे आ गया अब उस जादूगर के साथ में उसकी पत्नी भी थी और उसने जब देखा कि सब कट गया अगर तो रोने लगी अरे मैं मर गया मर गया मर गया मर गया उसने जो काट डाला उसने काट डाला अब खुद रोने लगी अब सब आंखों में पड़ गए जादू देखने वाले परेशान देखो ये दलाल को किसने दी जादूगर को किसने उसके हाथ पर काट डालो और ये कैसे क्या हो गया और वो उसकी पत्नी भी रोने लगी तो पत्नी रोने से मानने लगी कि हमारे ये सिद्ध हो गया ये जादू नहीं है ये दरअसल में ऐसा हो गया तब तो उसकी पत्नी रो रही है अगर पत्नी जानती होती ये तो रोज रोज ऐसे खेल करते डूब के रोती अब हाँ, रो रही है इसके माने याद ही घटना घटी है और उसके सबसे टुकड़े टुकड़े कभी वो रोने लगी तो उसके साथ में एक जमता रहता था जादूगर के साथ में वो झुकड़ा एक लड़का उसने उन सब शरीर के जितने टुकड़े थे उनके सबको टुकड़ों को उठा करके समेटा पैरों को पैर किया पैरों के ऊपर को धर रखा पेट रखा छाती रखी उसके बाद फिर दोनों बाहें उसको उसको जोड़ के रखी सिर सिर की तरफ रखा फिर उसके ऊपर कपड़ा डाला फिर उसने अपने बांसुरी बजाई फिर झंडा घुमाया फिर चाल पर्वत उसको घूमा फिर चक्कर लगाए और थोड़ी देर के बाद सुन जब कपड़ा उठा करके बाहर दिया तब देखा तो उसमें जी ने वो उठ के चढ़ गया तो बताओ ये जादूगर जो है ये ये जादूगर का बहुत बड़ा भीड़ है ऐसी जादूगर की बातें हैं तरह तरह की होती रहती है संसार में नए नए प्रकार के इस प्रकार का जादू शायद अब होता हो होता होता हो लेकिन तरह तरह के और बहुत से होते रहते हैं एक जादू का तो हमने अपने हाथों से देखा शरीर के काटने का सरकार जादू कराया उसका और उसने जो है एक लड़की को लेकर एक बीज के ऊपर ऐसे बिठा दिया और उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल करके उसको बेहोश कर दिया कुछ कर दिया और उसके बाद वो एक आरा मशीन खरीद के लेकर के आया बिजली से आरा मशीन चला खर खर करके आवाज हुई और उसको पेट से लेकर के यहाँ से हम काट दिया जब कट गया पूरा तब उसने एक उसके पास तलवार को जहाँ कटा हुआ था उसके बीच में सारा तो खंड से जाकर के मेज में जाकर तलवार उसके बाद हम तो टुकड़े हो गए हाँ? बस उसके बाद फिर उसने जो उसको फिर उसके दोनों टुकड़े जोड़ दिए और जोड़ करके फिर उठा के खड़ा कर दिया जितना तो जादू हमने भी देखा अपनी आंखों ये पुराना जादू वो रस्सी के ऊपर चढ़ गया वहां से कट के गिरे इस प्रकार का तो नहीं देखा लेकिन श्री तो जो कर दिए रोग जादू करते हैं तो हमारा देखा हुआ है ऐसे करते हैं और बहुत से इस प्रकार जादू होते हैं तो कहते हैं इस प्रकार का जादू कर देना शरीर को काट देना जोड़ देना ये कोई बहुत बड़ी वीरता की बात नहीं इंद्र जाद कहूँ कभी नबीरा काटे निज कर सकल शरीरा मोह भी ऐसा ही है मोह भी व्यक्ति का मोह मैंने आसक्ति अगर जोड़ लो तो व्यक्ति एक जगह आसक्ति काटता है तो दूसरी जगह उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है और वो जान भी नहीं पाता व्यक्ति ने आसक्ति छोड़ी धन से आसक्ति छोड़ दी धन छोड़ दिया घर छोड़ दिया धन छोड़ दिया हाँ? अब वो जाकर वो समाज सेवा भगवान की भक्ति इत्यादि में लग गया अब लोग उसका सम्मान आदर करने लगे तो अब उसके मोह जो था धन का तो छूट गया लेकिन सम्मान का प्रतिष्ठा का मोह हो गया दूसरा समय कर आया एक नहीं अनेक हो अब आप समझ जानते इस प्रकार के कि एक जगह जबकि मोह छोड़ता है दूसरी जगह मोह पैदा हो जाता है लोग बाग घर छोड़ करके वन में चले गए वन की पर्वत के गुफा में रहने लगे तो आप गुफा में रहने लगे तो थोड़ी देर में गुफा में जो पहले एक आदमी रहता था खाली देखकर कुछ रहने लगा लेकिन जो पहले उसमें रहता था वो घर चला गया था घूमने के लिए तीन चार छह महीने बाद लौट करके आया तो मैंने तुम इसमें कैसे घुसे ताकि अपने खाली देखी तो आ गए कहीं नहीं मेरी गुफा है अब दूसरा कहता है कि आपकी गुफा गुफा किसी की होती नहीं जिसका अधिकार होता है उसी की गुफा होती है अब मैं इस गुफा में रहता हूँ उसकी मेरी गुफा है कभी भी गुफा दिखाओ कहा आपकी गुफा अब बताओ उस पर्वत की गुफा में इतना बड़ा भारी घर जिसमें जब दस पंद्रह कमरे थे और एयर कंडीशनर लगे हुए थे उनको तो छोड़ो है सारा राज्य छोड़ो है एक गुफा में रहने लगे हाँ? लेकिन मकान का मोह तो छोड़ सकते लेकिन गुफा का मोह कैसे छोड़ सकते आश्रम में जाकर के रहे उस कमरे में रहने लगे तब उस कमरे में मोह हो गया कभी आप उस कमरे को छोड़ दो आप उस कमरे में चलेगा हाँ, ऐसे कैसे हम करें दिखाई नहीं देता और ये सब मोह का खेल होता रहता जिनकी जो ज्ञान की दृष्टि अंतर्दृष्टि जिनकी की है हृदय में उत्पन्न हुई सूक्ष्म बातें जिनको जो अपने हृदय में उत्पन्न होती सब दिखाई देती है जो देख सकते हैं बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता है वो किस प्रकार का काम करता है इसलिए जाल कहूँ कही न बीरा काटे निज कर सकल शरीरा और जरई पतंग मोहदत भार बहई खरबरंग और उदाहरण देते हैं जैसे कि देखो जैसे पतंगे हैं पतंगे भी जहाँ आग जल रही होती दीपक जल रहा है जाकर के उसी आग में जाकर के अपने आप को होम देता है और जल के मर जाता है तो कहते पतंगा बड़ा धीर है जो जाकर के आग में जल भरा जाकर कुछ नहीं कहता वो तो मोह के कारण प्रकार के अज्ञान में अपने आप को बुला रहा है इसी प्रकार से भार धारण करे मत जिस रावण कहता मैंने अपनी भुजाओं से कहा पर्वत उठा लिया तो कहते हैं भार तो पर्वत भी एक भार है तुम्हारे लिए बोझ है तुमने उसको उठा लिया उठा लिया ऐसे भी कितने गदाई जिनका बोझ धोया करते उनको कहते हैं खर्च मन गदा और भार पाए खर ब्रंद जितने गदाए वो भी भार देते रहते हैं तो कोई उनको बहादुर कहता बस अच्छा भी कहता है दे नहीं सूर्य कहा नहीं ये सूर्य नहीं बनाते मैंने दूर नहीं कराते और समझ देख मत मंद थोड़ा विचार तो करके देखो तुम तो मूर्खता की बातें करते हो ये सब तुम्हारी जितनी भी तुम अपनी शक्ति का वर्णन करते हो तो सब चीज की बातें नहीं ये सब बस की बात अब धीरे धीरे रावण की और अंगत की बात जितनी अभी तक चलता हुई आ रही थी अब वो समापन की ओर आगे बढ़ रही है दोनों में कर्ष भी बढ़ रहा है मैंने अंगद भी ज्यादा उत्साह से बोल रहा है और रावण भी उतनी ज्यादा उत्साह के साथ में बोल रहा है और जब बहुत अधिक लोगों में कर्ष बढ़ गया तो उसके बाद में फिर निर्णय के और समापन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो उसको देखेंगे और धीरे धीरे उसको आगे आगे रघुपते हृदय मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुं गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय 감사합니다.